और जब वो उन्हें पढ़कर सुनाया जाता है तो वो कहते हैं कि हम उस पर ईमान लाए हैं यकीनन हमारे रब की जनाब से वो हक है यकीनन हम तो उससे पहले ही फर्मा हैं